संपूर्ण मंत्र का क्या है संक्षेप में कह रहे स्वात्म अन्य विहित अविदाभ्याम अन्यतम वस्तु संभवती नहीं संभवती स्वात्मा से भिन्न अर्थात विहित और अविदित से कोई भिन्न वस्तु नहीं हो सकता किंतु आत्मा ही ब्रह्म है तो और कोई ब्रह्म नहीं है ये क्या प्रमाण है ध्वनि को प्रमाण देते हैं या फिर जब भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं प्रमुख तीन वेदों का प्रमाण देते हैं एक मंत्र यजुर्वेद का एक मंत्र ऋग्वेद का एक मंत्र सांगेद का और कहीं पर अध्ययन कर दी तीन तो देंगे चार में से तीन का जरूर यहाँ लेके सबसे पहले अथर्वेद का मांडित्य उपनिषद अयम आत्मा ब्रह्मा सामवेद का चांदक के उपनिषद यह आत्मा पात पापा बुझाएंगे के जरूर का यह साक्षात प्रोक्षात ब्रह्मा यह आत्मा सर्वांतर तो तीनों ही बुझाएंगे का है दोनों एक साक्षात प्रोक्षात ब्रह्म तीन चार एक है यह आत्मा सर्वांतर भी तीन चार एक का ही है जो साक्षात है और अप्रोक्ष है वही ब्रह्म है और साक्षात का मतलब जिन जीवन का विषय जो इंद्रियों के विरुद्ध नहीं है ऐसा जो साक्षात हो और अत्यंत अपरोक्ष इंद्र ग्राही नहीं है तो फिर परोक्ष हो सकता है परमाणु आदि के समान पर कहते नहीं अप्रोक्ष है जो उसी का नाम ब्रह्म है का अयम आत्मा ये जो आत्मा है ब्रह्म यह आत्मा ये जो आत्मा है वास्तव में जो है पापों शरीर के अपहत आत्मा है और जो आत्मा है वह सर्वांतर है इत्यादि श्रुतंग्रभ्यस्तंग्रंथी इसी बात का प्रतिपादन किया गया है इतने सर्वात्मा सर्वविशेष रहित चिन्मादय ज्योतिषो ब्रह्मत्व प्रतिपादित वाक्य से देश परंपरा प्राप्त आह इस प्रकार अन्य स्वतंत्रों से भी जो निश्चित है उसी को सर्वात्मना सर्वशेष रहित सभी का वो आत्मा है सर्व विशेषण से रहित है चिन्ह मात्र ज्योति रूप ही है ब्रह्मत्व है इसी का ब्रह्मत्व के प्रतिपालक ब्रह्मत्व के प्रतिपालक जो भाग्य है वो अपने से नहीं जा रहे हैं या तो सब छिड़े जो विश्व श्रोमा सब शब्द प्रयोग आचार्य परंपरा प्राप्त आचार्य के विरोध परंपरा भी प्राप्त किसी को कहने के लिए स्पष्ट करने के लिए कहा ब्रह्मजीवन आचार्य उपदेश परंपरा यही अभिगंतव्यम कहने का तात्पर्य भी है इस ब्रह्म तत्व को अपने आप पुस्तक पढ़ करके नहीं जानना चाहिए आचार्य परंपरा के द्वारा ही को सुनकर जानना चाहिए आचार्य के उपदेश की परंपरा से ही जानना चाहिए न कर कहा आचार्य कुछ परंपरा अधिगम पदम न प्रकट प्रवचन मेला बहुश्रुत तपो विज्ञान न प्रकट न प्रवचन न अस्वामेला शक्त्या न बहुश्रुतेन वा न तप तपसा न यज्ञ वा इत्यादि अनेक दीर्घा विभाग न सत्य साधेगा किसी भी साधन से जानने की चेष्टा नहीं करना चाहिए क्योंकि आचार्य उपदेश परंपरा से ही मेरे मुख से सुनकर समझना चाहिए सुना श्रुतवंता वयम पूर्वेशान आचरण वचन वचन इस प्रकार से हम लोग जो है पूर्व आचार्यों के वचन को सुना है लेकिन साधारण कथन के द्वारा साधारण कथन को प्रवचन कहते हैं तो लोग आदर करते ही स्टेजों पर बैठे हुए हैं वहाँ कोई विधि विधान से कोई मतलब नहीं है उसे हमने भी जो अभी पढ़ा ये भी प्रवचनी है ये भी वास्तविक विधान से कुछ हुआ नहीं विधि विधान से प्रशक्ति कहाँ है पानी संग्रह निर्माल पानी ना समित पानी कोई पानी नहीं है यहाँ कोई पानी पानी पी के आ गई और पहले प्रार्थना करना पड़ता है निवेदन होता है तो हम जो है आपसे सुनना चाहते कि तुम लोग पीछे तो जाने से बोलिए जानकारी हो गई गोड़ को उठावा कौन टोकन और आपस में फिर जानकारी है बैठ बिगड़ आकर के पहले संबंध करके पूछा कितने अनुमति कितने पाया सुनने का लिए तो रहा है पहले उसमें कितने बार आ चुका है इस बात को स्पष्ट ही आचार्य वासना सुनील वासनी स्पष्ट बोल विधि विधान में श्रवण करना इसलिए हम तो हमको सुना रहे हैं न गुरु है न शिष्य है न आचार्य न शिष्य ऐसी कोई बात ही नहीं कहते हैं कि देखो है प्रचरण यह ये आचार्य जो हो मैं आत्मा ब्रह्म पर ब्रह्म व्यापित मेरा आचार्य जो आचार्य बना हम लोगों के लिए इस ब्रह्म के बारे में व्याख्या करूंगा इस प्रश्न कहा स्पष्ट की उन आचार्यों का वचन हमने सुना था अब अपने भाष्यकार अपने तरफ से कुछ बातें कहना चाहते हैं अन्य अविता अतो अविता ही इतना वाक्य आत्मा ब्रह्म जो प्रतिपादित है श्रोत आशंका जाता तो कभी जो आत्मा ब्रह्म श्रोता शिष्य के मन में आशंका हुई ये कैसा हो सकता है आत्मा का अपने ब्रह्म को दिया क्योंकि जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है अतः जीवात्मा तो ब्रह्म कैसे हो सकता है दुनिया में जो प्रसिद्ध है उसे खिलाफ आप बोल रहे हैं कोई भी व्यक्ति जीव को आत्मा नहीं मानता वेदांत को तो छोड़ करके सभी के सभी विभिन्न दार्शनिक ये पढ़े लिखे तो दिमाग द्वारा भी जीव को आत्मा ब्रह्म साक्षात नहीं मानते इसलिए श्रोता शिष्य के मन में आशंका हुई भाई कैसा हो सकता है कि जो मैं जीवात्मा हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ तो कैसे नहीं जान सकूंगा नासी आत्मा ही नाम अधिकृता कृपा से क्योंकि आत्मा उसे कहते हैं जो कर्म में अधिकृत है अथवा उपासना में अधिकृत है कर्म ही उपासने संसारी वो संसारी है कर्म उपासना व साधन अनुष्ठा ब्रह्मी देवान स्वर्गम व प्राप्त कुछ क्योंकि जो संसारी है वो आत्मा है इंद्र कर्म और उपासना है गुरु के साधनों को लेकर अनुष्ठान करके या तो ब्रह्मा विष्णु आदि जो देवता है उन देव भावों को प्राप्त करना चाहता है या स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है तब तस्नाद अन्य उपास विश्वेश्वर इसलिए स्पष्ट हुआ तो मुझ जीवात्मा संसारी से अन्य ही होता है कौन उपास जो विष्णु है जो ईश्वर है जो इंद्र है जो प्राण है जो ब्रह्म है मिथुन आत्मा इसलिए स्वर्ण से भिन्न उपास्य भी विष्णु ईश्वर इंद्र प्राणारूपा ग्रहण हो सकता है स्वर से अभिन्न नहीं हो सकता लोक तो प्रति मिलेगा दूसरा क्या लोक प्रत्यय के साथ मिलेगा तो कर्म कांड पर श्रुतिया उपासना कांड पर श्रुतियों के साथ में विरोध है इतना ही नहीं साथ साथ कह दिया लोक प्रसिद्धि के साथ भी विरोध हो रहा है पूर्ण प्रसिद्धि के साथ विरोध करते तभी यथा अन्य कार्य का ईश्वर अन्य आत्मा की आचक्षते जैसे जो है अन्य कार्य का लोक प्रसिद्ध है सब विद्वान लोग है लोक में विराजमान विद्वान लोग है वो लोग कहते हैं ईश्वर से भिन्न जीवात्मा है ठीक है आप जैसे वेदवादी हैं उसी प्रकार से वेदवादी विद्वान सक्रिय वो क्या कहता है तथा कर्म मैं मीमांसका भी कहता है अमूल्य अनुज एक अन्य देवता से स्व से भिन्न को ही देवता के रूप में उपासना करते हैं कहीं भी आप जो देखेंगे वैदिक कर्मकांड वैदिक उपासना कांड के आधार पर तो लोक प्रसिद्धि के अभिद्ध प्रसिद्धि के आधार पर भी देखते हैं और कर्मकांड में जो दृष्टान मीमांसकों का दृष्टिकोण से भी जीव से भिन्न ही ब्रह्म सिद्ध होता है कहीं भी किसी ने भी जीव को ग्रहण करके माना ही नहीं है तस्वाद युक्तम यद नहीं है इसलिए उचित तो यह है जो विदित है ना उपाच्य निमित है घटपटारी को नहीं लेना किन्तु उपास्य मेरे द्वारा मेरे से श्रेष्ठ ज्येष्ठ महान है दिव्य शक्तियों से संपन्न है सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है ऐसा जिन देवी देवता जिनको मानते हैं वो उपास ही ब्रह्म है हम ब्रह्म नहीं है ये मानते ये आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता ये मन में शंका हुई पूर्वी शिष्य को तो, तो अन्य उपास से भिन्न उपासक नहीं हो क्योंकि काम एकाम आशंका वह आशंका को शिशिर उपलक्ष्य शिशिर शिशु का चारा देख रहे तो गुरु जी भी जब बोलेंगे शिशु को देखेंगे ना शिशु में देखते रहता है कोई की मांग नहीं जा रहा है तो चेहरे से पता नहीं जाता है उसे पता तो कल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है चेहरे देते हैं तो समझ नहीं आ जाती तो गुरु जी ने कहा शिशु का चेहरा शिशु का चेहरा एकदम बुझा दो यही कैसा होगा आप नहीं मान तो बोला ऐसी गुरु से बोल रहे साल की बात अजीब के मन में जो आ रहा है उसको गुरु उसके चेहरा से रेडिंग कर दिया और अपने जो उसके शंका पूछे बिना अगला मंत्र जवाब नहीं देंगे <coughs> इसको कहते हैं शिष्य उपलक्ष्य तक वाक्या बात हो सकता है शिष्य ने मुझे पूछा भी हो लेकिन शुरू शिष्य के प्रश्न को यहाँ रखा नहीं पहले प्रश्न रखा था शिष्य का यहाँ तीसरे मंत्र के बाद में चौथे का बीच में शिष्य के प्रश्न को पहले नहीं भी रखा हो मान लिया जाएगा शिष्य ने कह दिया कि मैं उपासक अलग है उपास्य ब्रह्म अलग है जो उपास्य होता है वही ब्रह्म होता है इसमें मैं ब्रह्म नहीं हूँ मैं कैसे तब गुरु उसके जवाब में आचार्य कहते हैं मयम संकिष्ठा मायम संकिष्ठा ऐसी शंका न करो क्यों ये द्वाचार विदितम ये नागभ्युते तदेव ब्रह्म अनभ्यूतम जो वाणी के वाणी से प्रकाशित नहीं होती वह शब्दों के द्वारा बोला नहीं जा सकता वाणी भी बोल नहीं सकती यम केंद्रीय वाणी के शब्द ही उच्चारण होगा अगर शब्द के द्वारा ब्रह्म को प्रकाशित आप नहीं कर सकते नीलवाद प्रतीत बल्कि उल्टा जिसकी प्रकाश से जिसकी चेतनता के वजह से वाणी सकल शब्दों को प्रकाशित करती है अरे ब्रह्मा उस चेतन उस ज्योति उस सत्ता को आप प्रेम करके समझो अरे ब्रह्मा की पर न इसको नहीं यद जिसे तुम इधम दया उपासना इधम रूप उपासना करते हो वो उपास को ब्रह्म करके मत समझो अच्छा, चैतन्य मात्र सत्ता कन्नी वाचा यत यद शब्द अर्थ है यद मुने ब्रह्म कौन है ब्रह्म चैतन्य मात्र सत्ता कम चैतन्य मात्र है सत्ता मात्र है सर्व जिसका उसको वाचा वाक जीवा मूला विशक्त सुस्थान विषक्त विषक्तम आदय वर्णा अभिव्यंजक स्वर्णम वाक वाक क्या है वाचा है प्रत्यय वचन वाचा प्रत्यय वचन है उसको पहला एक वचन लेकर उसका अर्थ रहे लाख शब्द से क्या ले रहा है अर्थ लाख शब्द जो अर्थ हो सकता है उच्चते अनियंती या कर्म उत्पत्ति तो या उच्चते भी आप करण उत्पत्ति कर दो तो वस्तु हो जाएगा शब्द दोनों उत्पत्ति से शब्द भी और इंद्रियों का करण भी पहला कर्ण पक्ष को निकलना क्या कर रहे हैं क्या चीज है पर जो वा मूला विशिष्ट सुताशक्तम आवरे वर्णानुबंधितम करणम और दूसरा कर अर्थ संकेत परिचिन्ना अर्थ संकेत से परिचिन जो वर्ण समुदाय को मिले वाक शब्द दोनों अर्थ पहला अर्थ लेकर तो करे जिह्वा मूलादिशु अष्ट सुस्थानेशु जिह्वा मूलादी आठ स्थान जो कि आप लोगों में पढ़े ही है सिद्धांत में सब जगह है व्याकरणों में उसके अश्लोक नीचे जो है आयुर्वेद का बता रहे तेरह प्रदेश कंठ प्रदेश प्रदेश तीन जीवा में चार गुंत पांच नासिक और छह सात तालु आठ इन्हीं को फिर गुणात्मक का जो कालो कंप जोड़ काट करके बना दिया शिरा से लेना है नासिका नासिका में स्वागत से बोलते ही नहीं नासिका अच्छा दिए उन्होंने नाम नासिका अच्छा ये समझ वास्तव में शब्द उनको तो सूचित पहले लेकिन आनंद विचार करते हैं कि तेतीस आकाश प्रवेश ये आकाश का प्रवेश विशेष है ये सब आकाश का ही परिचय तो आकाश प्रवेश आश्रम कुशत्तम मैंने आशुतम कुशत्तम करके जो भाषिकम लिखा है उसका अर्थ है आशुतम अर्थात आकाश उपादान आकाश है उपादान कारण जिसका ऐसी वस्तु है ये और इन सकल स्थानों का दुर्भोगों में आगमन तभी है देवता जिसका ऐसे कुछ स्थान विशेष वर्णा नाम विभिन्न जगन परिणाम को अभिव्यक्त करने वाला करण है साधन अथवा दूसरा वर्णाश्च अर्थ संकेत परिचिन्ना अर्थ संकेत से परिच्छिन्न जो है एक वर्ण समुदाय है उसी का नाम वाक्य कहने का तात्पर्य क्या है तुम्हें बता दें सीतावंता एवं क्रम प्रयुक्ता इतने जो वर्ण है तो इस क्रम से प्रयुक्त होने पर यही अर्थ देवे ऐसा जो वर्ण समुदाय होता है उसी को भी विवाह अभिव्यंग्य शब्द उदम लागू तादृश वर्ण समुदाय से अभिव्यंग्य मिलता जो शब्द विशेष है पद करके जो व्याकरण ने कहा है उसी को वाक्य से भी कहा जा सकता है वाक्य शिक्षित है अकारो ही सर्वावाद सही शास्त्र शांत सूक्ष्म विजयवाना बड़ी रूपा होती सूर्य हो अंतरिक में आया हुआ है दो तीन सात तेरह दूसरे मंडल तीसरा जो अनेक है सात कंडिका का तेरवा मंत्र है दो तीन सात तेरह अकार वैश्वाद अकार ही सारी वाणी है सारा का वाणी क्या है अकार जिन लोगों ने शिव सूत्र के पाठ सुना है उन लोगों को पता है और तो सारा संसार के और क्या है साक्षात ब्रह्म है उसमें आ क्या है आनंद है और जब जीव बढ़िया उसको विस्तार से प्राप्त होता है तो आनंद अनुभूति होती है तो उसमें जो क्या हो गया संकल्प ये आगे हुई कामना इच्छा हुई स्व काम उसने कामना किया कि मैं देव की सृष्टि करूँ तो क्या हुआ उसकी पत्नी आ गई माया बिना माया घट तो कर नहीं सकती अस्सी पत्नी थी बार नहीं उसको पुत्र आ गया सारे वर्णन की उत्पत्ति आवागता करके सर्व विस्तार सुशील चित्र में विचार हुआ है इस तरह से और से लेकर के सारा स्वर्ण सारे व्यंजनों की सारी उत्पत्ति दी हुई मूल क्या है और इधर अकारो हुई सर्वावाद वाणी है वह कहा है स्पर्श स्पर्श में कार्य स्पर्श अंतता कुछ सरल स्मार इत्यादि भी विरोचन कर दिया और यही को नहीं उनके जो विद्यमाना हो नाना रूपा हो दे व्यक्त होती हुई यही ये अकार की वाणी जो है नाना रूप से बहुत वर्ण शब्द रूप को धारण कर लेती है और वही शब्दों को आपने क्या कर दिया फिर वेदों में देखा नीतम अमितम स्वरा सत्तान अधिकार क्योंकि छंदोबद्ध होता है ना ऋग्वेद हमेशा छिंदोबद्ध होता है नीतम नितम परिमितम निश्चित पक्ष समुदाय वाला है और अमितम जिसका निश्चित पक्ष समुदाय नहीं है अगर और स्वरा मैंने सावले जिसमें संगीत है नितम अमितम स्वर ये जो सावित करता है सत्यानृत सत्य और मिथ्या सत्यानृत सत्य और मिथ्या का मतलब क्या उसी का उच्चारण भी परिशुद्ध उच्चारण परिपक्व उच्चारण अर्थ सहित ज्ञान भेद विचार जो है ये युक्त जो उच्चारण हो तो सत्य है और उन्हीं चीजों का यदि आप जो है अर्थ क्या ज्ञान पूर्वक या गलत अर्थों में प्रयोग कर लेते हैं तो अंत अधिकार है ये यह लाच ज्ञान आया वापस या वाचा तादृश वाणी को देखा जो कि कर्म रूपा है या तो शब्द रूपा है चाहे कर्म रूपा वाणी से समझो चाहे शब्द रूपा वाक से समझो इसके द्वारा आप जो है पदत्व परिच्छिन्न अर्थात पदत्व परिच्छिन्न भाव से कर्म गुणवत्त कर्ण गुणवत्या कर्ण में वाणी गुण में उपसर्जन सा कर्णगुणवती तया कर्णगुणवत्ता कर्णरूपी इंद्रियोपी गौण साधन के द्वारा अनभ्युदितम अप्रकाशितम अनभ्युतम वो जो है वह ब्रह्म का आप अवनभ्युत मैंने प्रकाशितम न प्रकाशित आप प्रकाशन नहीं कर सकते उसका अभ्युदित या उसका विवेचन नहीं हो सकता जैसे वर्णों को लिंगी अभिव्यक्त कर देती है और वर्ण भी अर्थ को अभिव्यक्त कर देते हैं इस प्रकार से न इंद्री के द्वारा ब्रह्म को अभिव्यक्त कर सकते हैं या इंद्री से प्रयुक्त शब्दों के द्वारा जैसे ब्रह्म को अभिव्यक्त नहीं कर सकते ये न वागद्य दूसरा पाठ ये न विवक्षित अर्थ सकरणा वाक अद्वित विवक्षित पदार्थ में काल से युक्त शब्दों को वही भ्रम की वजह से प्रयोग कर पाते हैं तो हमारा विवक्षित अर्थ जो विवक्षित जो भी आप बताना चाहेंगे उस विषय में उस विषय को प्रकाशित करने में इस इंद्र की प्रवृत्ति के कारण वो ब्रह्म है सकारणा सकरणा वाक सकरण इंद्रिय का वाघ इंद्रिय कर्म के सहित वाक्ष शब्द अभ्युदित अभिव्यक्त हुआ करता है चैतन्य ज्योतिषा प्रकाशित प्रयुज्य चैतन्य की ज्योति के द्वारा ही वह प्रकाशित करने में समर्थ होता है या शब्द को प्रयोग करने में समर्थ होता है इसी बात को लेकर वहां पर कहा देखो आपने शाखा ये शुक्ल दुर्गान के प्रश्न होता है दुर्गा ने कहा एक चार सात ये वाचो हवा गित्तम ये वाचो मंत्री इत्यादि और दूसरा इधर ये वाचन अंतरो उन्हें तो तीन सात दस का तीन सात सत्रह तीन सात सत्रह का और वो एक चार सात विद्वाचो हवा कार्य से इसका नाम वाक प्रज्ञान वाचो जो हम बोल रहे हैं इसलिए इसका नाम वाघ प्रज्ञान बोलते हुए कहीं नाम वाक है न बोलते हुए कम क्या कहते है वाक नहीं बोलिए वहां का जो दूंगा है उनका है आवाज उनका वजन ठीक केवल वाचन वर्ण और भी स्पष्ट करते वाले भाई जो वाणी को भीतर में रहकर नियमन करता है वो ब्रह्म है वाणी जिसे नहीं जानता वाणी ये शरीर जैसा तो वाणी के भीतर रहकर वाणी का नियमन करता है उसी उस आत्मा का नाम सर्वांतरयामी आत्मा का नाम ब्रह्म है ऐसे वहां प्रकार है क्रिया पुरुषेश साघोषेश प्रतिष्ठिता कस्तुत्ता निर्दान प्रश्न उत्पाद प्रतियोजन उत्तम सा भाषते स्पष्ट करते हैं एकादशांग पुरुषेश चित्रेश यह वाक्योक्ति पुरुषों में अगर चेतन वर्ग में यह वाक जो वाक विशेषता देख रहे हैं कहा वो तो शेष प्रतिष्ठित वो कहाँ प्रतिष्ठित है तो वर्णन वर्णन से प्रतिष्ठिता वर्णन प्रतिष्ठित है किन्तु वर्ण के द्वारा ही अभिव्ययी होता है सारे वस्तु किसी को तो कश्चित काम विवाद कच्चित ब्राह्मण तो कोई कोई ब्राह्मण होता है जो उस वाक उस वाक का पीछे कारण होगा उस चित्र को कोई कोई ब्राह्मण जान पाता है यदि प्रश्न उत्पाद्या उसको प्रदोचन कर लिया अरे दूसरी दूसरी बात है सावाग ये स्वप्न भाषित यही वाग है असली और आत्मा ब्रह्म के वाग वाचो हवा इससे चक्षुष चक्षु वाचा हवा शुद्ध वाणी वही स्वप्न में बोला करती है ये वाणी तो चुप है ये तो बोल नहीं रही है स्वप्न में तो स्वप्न में कौन सी वाणी बोली तथा शुद्ध ब्रह्म ही वहाँ उस रूप से प्रकट होकर बोलता है साराग यया सत्य भाषित और इस ब्राह्मण ने उस वाणी को जाना इस वाणी को नहीं इस वाणी को सभी जानते हैं कोई कोई ब्राह्मण जानता है उस वाणी को किस वाणी को तो ब्रह्म रूपी वाणी को जानता है जो इस सकल व्यवहार में प्रयोग को वाक इंद्रिय और तजनी जो अभिव्यक्त शब्द रूपी वाकों को अभिव्यक्त करने में या उनकी प्रवृत्ति में या उनका जो है प्रकाशन में सामर्थ्य प्रदान करने वाला मूल वाक अर्थ शुद्ध ग्रह को कोई कोई ग्रह नहीं जानता है साही वक्त वक्त नित्या वाक चैतन्य चैत स्वरूप स्पष्ट कर हवा से कौन से नहीं साही वाक भाववाक वो है कौन सा वक्ता के व्यक्ति क्रिया के द्वारा मृत्यु रूता जो वाक है क्षेत्र जो कुछ होता है उसको ज्ञान में तो दृष्टान में दिया श्रुति है श्रुति जो वाक शब्द आया है परिषद वाला वाक्य नहीं बोल रहे आप तय कर दिया यहाँ जो है ना उस वाणी को कोई कोई ब्राह्मण जानता है और वो वाणी क्या है जो स्वप्न में बोलता है ये जो श्रुति दीर्घ श्रुति है इस श्रुति में आए वाक सिद्ध कर रहे हैं शुद्ध नवी वक्त वक्त प्रलोक विजय एक और सभी प्रमाण के प्रदान के लिए चार सौ छब्बीस का जो नई वक्त वक्त प्रलोक की श्रुतियां है वक्ता का भी जो वक्तृत्व है उसको प्रयोग कभी नहीं होता इसलिए उन्होंने कहा वही वक्त वक्त लोग तो वक्ता का जो वक्तृत्व है उसको उपलब्ध नहीं होता कि वक्तृत्व और कुछ नहीं है और साक्षात ब्रह्म ही है चेतन प्रकाश है प्रकाश है ज्योति है तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म लज्जे भूमात्यम भक्तक ब्रह्म की विधि इसलिए उस आत्मस्वरूप को ब्रह्म करके से भूमा नाम से जो कहा जाता है उसको ब्रह्म करके जानो क्यों उसको ब्रह्म नाम रख दिया व्यवस्थात के नाते इसका नाम ब्रह्म करके लोग कहा करते हैं कि ये सर्वत्र व्यापक है क्या है सर्वत्र व्यापक है इसलिए तो उसको ब्रह्म करके कह दिया तब ये राधा के उपाधि ही जिन राधा के उपाधियां हैं इन उपाधियों के द्वारा तुम उस निक्षेप मात्र आप ब्रह्म को ही ज्ञान करने के नाते ब्रह्म करके जानो वाचो हवाचक्षुषत्मनो कर्ता भोक्ता विद्याता नियुक्ता प्रशासता विज्ञान आनंद ब्रह्म इतनादेह संग्रहण असंहारी निर्विशेष करे ब्रह्म प्रवर्तन आत्मा में ब्रह्म बुद्धि शब्दार्थ यहाँ शब्दार्थ प्रयोग है करके देखो वाचो हवा चक्षु से है चक्षु श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मन कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानम आनंद ब्रह्म ये व्यवहारा तो सारे शब्द विभाग जो भी हम कर रहे हैं वो किसने कर रहे हैं अव्यवहारी रूप ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म किसी शब्द को अनुवाद करने की नहीं है क्योंकि असुंदरहारी निर्विशेष परे सामने ब्रह्मणी असंव्यवहार निर्विशेष जो पर है साम्य है ऐसा जो निरक्ष पर है निर्विश है और सामने है सर्वत्र समृद्ध है समर्पण योग उच्चते इसलिए कहा सिद्ध सिद्ध सुलभा समर्पण योग उच्चते तो समझ में नहीं सामने से समझ भावा कार्यम समत्व नहीं करते इसलिए कहते हैं वो सब है साम्य ब्रह्म प्रवर्तन परिवर्तन को साम्य ब्रह्म में तो सारे संग्रहार शब्द रूपी संग्रहार और संग्रहार को ब्रह्म में प्रवृत्त हो रहे हैं इसलिए पान निरस्य उन पुनहारों को त्याग करके आत्मा निर्विशेषम निर्विशेष आत्मा को ही ब्रह्म करके जाने यही हम योग के द्वारा उन व्यवहारों का व्यावर्तन किया जाता है ब्रह्मा ये गंती उपाधि फेर विशिष्टम अनात्मा ईश्वर आदि उपास्य उपास्य और ये ब्रह्म नहीं है इदम ब्रह्म न कौन सा यह जिसे इधम की उपाधि भेद विशिष्टम जो उपाधि भेद विशिष्ट है अनात्मा है जिसको तुम ईश्वर कह रहे हो और उपासना करते हो ईश्वर आदि

पूरे दो का यूज हो सकता है एक प्रत तो नियम विधि करने के लिए पूरी लाओ घर को दिया चेला छेलाना गया वहां देखा वो नहीं मिल रहा है वहाँ महंगा हो रहा है तो दूसरा किस चीज को उठा लाएगा ये लाना है दूध लाना है ठीक है दुकानदार के पास सुने का बहुत बढ़िया का भी सोलह रुपया और दूसरा जो है चौदह रुपया और तो भैंस का बारह रुपया और इतने रुपये तो उसमें मजूरा चलो चौदह रुपये का फिर जाए कहीं तो है ही तो चौदह रुपये तो जाने जाए पानी भरा हुआ जमीन का आधा पानी डाला कितना अगर वो जो है उसको ले आया हो तो गुरु जी बैठे नहीं उसको अरे वही लाना था वही में वो सोलह रुपये वाले शुद्ध ना ये अशुद्ध पानी मिला हुआ वो नहीं लाना चौदह रुपये सस्ता होकर मिल जाए है ऐसा भी चले गए कोई भी तुमको ये भी तो बचना पड़ेगा दूसरा यही लाने का मतलब क्या दूसरा कोई संस्थान मिलेगी जैसा भी मिले उसको लाना ही नहीं पुलिस इसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे अरे वही है ब्रह्म ये भी याद रखना जिसको अनात्मा है ईश्वर है शिव है विष्णु है अनेक नाम राम कृष्ण नामों से संग्रहारियों से तुम व्यवहार करो उपास रूप में ग्रहण करते हो वो ब्रह्म यू है नियमा साक्षी प्राप्ति पहले होगी नियमा साक्षी अथवा संख्या तत्व चंद्र से प्राप्त करें अथवा नियमादन अन्य ब्रह्म बुद्धि पर संख्यानार्थम अन्य ब्रह्मत्व बुद्धि चलो ये भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है तो ऐसे तो कर सकते ठीक है महाराज आपने जो बोला मैं ब्रह्म हूँ तो भी मान लिया कोई भी तो ब्रह्म है मेरे से भिन्न है किंचित उपाधि वाला है तो उपाधि वाला ब्रह्म हो सकता है तो पत्र क्यों अन्य तरह से आप लोग ठीक है उपाधि को ब्रह्म नहीं रहा था पहले और मेरी ब्रह्म दोनों ही ब्रह्म है ऐसे बोलने के लगे तो उसका निवारण करना भी जरूरी है दोनों ब्रह्म ही शुद्ध आत्मा ही ब्रह्म है उपाधि वाला कोई भी चीज ग्रहण नहीं हो सकता चाहे वो ईश्वर हो चाहे जीव रूपण ग्रहण करोगे उपाधि वाला जो भी है वह ब्रह्म नहीं है इसे तत्र क्या सोपाधिक निरुपाधिक दोनों में ब्रह्मत्व प्राप्ति की तब तत्र अन्य उभय प्राप्त होने पर परिसंख्यान करना है ऊर्जा बुद्धि लानी है सोपाधिक में ब्रह्मत्व का वर्जन करने के लिए यहाँ पर नहीं रहे ये भी उपासना कहा इस तरह से नियम विधि मानो चाहे प्रशंसा विधि मानो इसके लिए यहाँ उत्तरार को दोबारा तदेव तक ओंकार के एक भी परावर्तन किया गया था फिर भी पुनर्कथन जो किया गया है वो नियम विधि के लिए अथवा प्रसंख्या विधि के लिए समझे कहा शिष्य के मन में शेष जो है अभी ठीक ठीक पूरा है दूर नहीं हुआ है चेहरे से मालूम हो रहा है चलो ये तो युक्ति से तो रहे है लगता तो ठीक ही है हम वाणी से जिसको बोलते हैं तो वाणी है जो ये कभी भी ग्रंथ को नहीं जान सकता फिर उसका इसीलिए तुम जो जो है ना अत्यंत सूक्ष्म है कि इन्हें किसी देखा ही नहीं होगा इसीलिए देखा ही नहीं कोई तो बोल नहीं पा रहे हैं तो शब्द ही नहीं कर पा रहे हैं ऐसा उल्टा कोई चेहरा सोचे तो तब उसके लिए समझा हुआ केवल वाणी आदि अन्य इंद्रों की बात नहीं है मनसानमनुत ीनाहुर्मनोमतम् तदेव मनसा न मनुष्य यत्म जिसको आप जो है मन के द्वारा भी मनन नहीं कर सकते मन भी क्या है मन यदि अंतकरण पहले बहिष्करण का दृष्टान लिया और आप अंतकरण को ले रहे हैं अंतकरण बुद्धि मनुष्य बुद्धि और मन दोनों को अध्ययन करता हुआ मन रूप एक शब्द से अंतक को कहा गया है मन को अमीर मन सर्वकर्ण साधारण साधारण मनु कह रहे हैं कि मन जिसके द्वारा मनन किया जाए उसी का नाम मन है जो अन्य समस्त कर्णों का भी सर्वसाधारण करण अन्य कर्ण कौन है चक्षुरादि बाह्य करण है उन तो सगल वायु करणों के प्रति भी सिर्फ साधारण करण होने से इसको कौशल नहीं है सगल विषय व्यापकता हाँ। सगल विषयों को व्याप्त करने वाला है केवल अपना विषय सुख का ही कोई नहीं बल्कि स्व से भिन्न चक्षुरादि वाले विषय रूपाधि को भी मन ही ग्रहण करता है इसे सर्व विषय प्रभु व्यापक है देखिए मन में आशंका हो सकती ना मनरात्मक क्रिया के प्रति संकल्प विकल्प और बुद्धि को एकीकरण किया आपने इसलिए व्यवसाय आपको जो क्रिया उस क्रिया के प्रति ही कारण और है ऐसा नहीं केवल मनात्मक क्रिया अर्थात संकल्प विकल्प और व्यवसायत्मक क्रिया मात्र के प्रति कर्म नहीं है किंतु दर्शनात्मक क्रिया श्रवणात्मक क्रिया जितनी भी है यथा साधनात्मक क्रिया जितनी भी क्रिया है सकल क्रियाओं के प्रति साधारण ही है इसलिए उन्होंने कहा सर्वक्रम साधना सभी विषय क्योंकि सर्व विषय को व्यक्त कर लेता है सभी विषय ज्ञान के लिए अर्थात सकल इंद्रिय विषय का ज्ञानों के उत्पत्ति में मन ही प्रमुख कारण होता है इसलिए इसको कहा गया ये क्या प्रमेय है उपनिषद एक पांच तीन नंबर है काम संकल्प विचलता श्रद्धा श्रद्धा धीरे धीरे ही धीरे धीरे तेरे सर्वम शब्द काम मन इच्छा काम ने इच्छा संकल्प मन मन का काम है विचिकित्सा मैंने संशय श्रद्धा अश्रद्धा स्पष्ट है धृति में भय अधिक में अभय धीम लज्जा धीम ने ज्ञान धीम ने भय इतने सर्वम मन ये तो वृत्तियों को बता दिया चाहे किसी भी इंद्र के विषय है सकल उसने लक्षित कर दिया यहाँ पर कामादि मन मन कामा कामादि वृत्ति वाला वृत्तिमत वृत्तिमन मन वृत्तिमत सकाग्रता और सेवा कामादि वृत्तिमत है कौन मन तेना तादृश मनसा मन के द्वारा चौथी चौथी मन स्वभाष मन होते मन के बिना अवभाषण होता हुआ न विषय नहीं होता है मन संकल्प धातु करता है अर्थात मन उस ब्रह्म के विषय में किसी प्रकार का संकल्प नहीं कर सकता किसी भी प्रकार की वृत्ति को पैदा नहीं कर सकता है मन स्वभाष व्यक्ति नहीं करता क्योंकि मन का भी अवभाषक है मन का भी नियमन करने वाला है उनको भी अवधागत नियंत्रता मन तद अवधाष को से केवल नियंता ही है सर्व विषय प्रति प्रत्येक स्वात्म न प्रवर्तते अंतकरण सर्व विषय प्रति प्रत्येक सकल विषयों के प्रति वह गमन करने में समर्थ रखता है स्वात्मा के प्रति प्रवृत्त होने में उसको सामर्थ्य अंतकरण का नहीं होता विषयों के प्रति वह प्रत्येक गमन कर सकता है केवल स्वस्वरूप नहीं जो आत्मा है उसके प्रति उसको जन्म नहीं हो सकता अनुपस्ते हाँ, तो में भी चैतन्य जो दिशा अवधाधिक मनसो महन सामर्थ्यम तेन समित ये भी ब्रह्मा मतम विषय कृतम आहुकृत आहुकृतम कहते हैं वहां पर जाके दिखा ये ना आहु मनो मतम ये न मन मतम आहु ये ना ये ब्रह्मणा अंत ही चेतन दुर्दिशा अंदर स्थित सर्वनियामक जो आत्म ज्योति है चेतनी ज्योति है उसी के द्वारा अवभाषित मनुष्य अवभाषित किए जाने पर यह मन अपने मन रूपी कार्य में समर्थ होकर के तेना उसी ज्योति के कारण से सवृत्ति कम बने सवृत्ति वाला ये मन हो जाता है ब्रह्मणा जिस ब्रह्म से ऐसा होता है ऐसा मतम ऋषि कृतम व्याप्तम आप कौन कहता है ब्रह्म विवाह कथी ब्रह्म व्यक्ता लोगों का कहना है उसी ब्रह्म के आत्म ज्योति के कारण से ही अवभाषित हुआ यह मन स्वयं अपने विषयों को भी व्याप्त करके विषयों को भी अवभाषित करने लगता है स्वयं मन अपने आप नहीं कर सकता आत्म ज्योति से पहले मन भाषित हुआ और वह मन विषयों को भाषित कर दिया किसी आत्मज्योति को लेकर के करता है स्वयं अपने आप करने शिक्षण नहीं होता ऐसे प्रवृत्ता लोगों का कहना है तस्मात मन मनसा आत्मान प्रत्यक्ष कारण ब्रह्म विधि निर्णय इत्यादि इसलिए उस आत्मा को मनन मनसा आत्मान तस्मात एवं मनसा अपनी आत्मान प्रत्यक्ष कारण प्रत्यक्ष चैतन्य होता है जो उसी को भ्रम करके जाने इसे भी जिसके तो उपास समझती हूँ इतना शब्द मैं उत्तरार्ध का जो है पूर्वता